ठीक है उपस्थित विद्वदगण बहन प्रेमी सज्जनों मातृ शक्ति ईश्वर की महती कृपा से हम इस वैदिक योग शिक्षण का संचालन कर रहे हैं हम ईश्वर की स्तुति करें यो भूतन कि आपने अच्छे प्रकार से देखा सुना और समझा और एक परिणाम पर पहुंचे बुद्धिमान व्यक्ति और अतिशयक्ति बिल्कुल नहीं है दूसरे लोगों की भाषा यानी बोली जाती आजकल के सांसारिक लोग वो भाषा ऐसी बोलती है वो कहना कुछ चाहते हैं कहते कुछ चाहते कुछ है दिखाना कुछ चाहते हैं और हम जो कहना चाहते हैं वही दिखाते हैं जो दिखाते हैं वही करते ये खटकता है सबको आज ये रूप यदि दे दिया जाता है तो लोग टूट पड़ते हैं और ये कहते हैं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं यहां वो कुछ नहीं रहा इसलिए हमारी भाषा को समझने का प्रयास कीजिए यदि भाषा को आप नहीं समझेंगे तो अनर्थ हो जाएंगे वही भाषा बोली जाएगी जो अंदर है ये नहीं हो सकता बाहर से तो वो माला डलवाना चाहता है और ऊपर से कहता भाइयों मुझे माला मत डाल देंगे क्या समझ में आया बताओ कुछ आया नहीं समझ अंदर से चाहता माला डाले और मैं भागू हाँ मुझे माला नहीं डालना मुझे माला नहीं डालना परीक्षा माल डलवानी और अंध डलवानी ये छल कपट का देश का जीवन बिना कृपया की बातें हमको बिल्कुल अच्छी नहीं इसलिए इस भाषा को जो नहीं समझते और नहीं जानते आज के प्रचलन के अनुसार हमारी बातों का लगभग अनर्थ होगा इसलिए ध्यान से सुनना और जैसा ही अनर्थ हो जाए हम इस मार्ग को कभी छोड़ने की बात नहीं सोच सकते सुनिए हमने सबने मिलकर आर्यवन विकास के धनजी भाई बैठे अधिकारी लोग जितने भी यहां हैं नहीं ये योजना बनाई थी आज से नौ वर्ष पहले और हम खोज कर रहे थे इस बात की कि ये आयोजन अर्थात ब्रह्म विद्या को सिखाया जाए और स्वयं वैद्य दर्शनों के विद्वान तैयार किए जाए ये दोनों प्रमुख बात भाग होती तो धीरे धीरे धनजी भाई दूसरे अधिकारी लोग आर्यवन विकास के लोगों से संपर्क हो गया होते होते लंबी बातें उन्होंने योजना बनाई झट इन्होंने कहा अपने एक अधिकारी ने कि एक लाख रुपया इस काम के लिए मैं देता हूं फिर हमने धनजी भाई से सबसे कहा कि आपको इतना भवन बनाना पड़ेगा जिसमें ये ये ये व्यवस्था तो ये आधुनिक भवन सारी की सारी स्थिति गतिविधि जो की थी उन्होंने बना के खड़ी कर दी थोड़े दिन और एक प्रकार से ये बड़ा सौभाग्य आर्य जगत का भी और इनका भी एकदम उपलब्धि एकदम विद्वान तैयार करने की प्रक्रिया हाथ लग गई और देश और विदेश में आर्यवन विकास का नाम गया देश विदेश में पहुंच गया जो पक्षपात रहित है विद्वान है माताएं हों पुरुष हों आर्यवन विकास को देखते ही उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहती और ये स्थिति जब देखी लोगों ने स्वार्थियों ने अज्ञानियों ने तो वो टूट पड़े वो चलता स्वाभाविक है तो ये स्थिति जब हमारे सामने आएगी आती है तो हमें हाँ, बड़े संभल के चलते बड़े सोच के चलते यदि संभल के नहीं चले तो हमारी बात को चाहे जो बिगाड़ सकता है इसलिए सारी बातें अब आप यहां देख पाएंगे अब तक जो दर्शनाचार्य निकले और उसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है अपने ज्ञानेश्वर जी विवेक भूषण जी दो यहां उपस्थित हैं और अर्जुन देव जी भद्रकाम जी दिल्ली और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश और इसी प्रकार से कच्छ में आदि आदि स्थानों पर जो यहाँ के विद्वान निकले आप अपने कार्यों में तल्लीन है एक आध को छोड़ो कोई अपने ढंग से दूसरे गृह की ओर गया होगा हमको <laughs> ऐसा ज्ञान नहीं हुआ गया होगा तो वो वहां करता होगा ऐसे ये स्थिति आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम इस स्थिति में चल रहे और इसी के अंतर्गत हमने और काम आरंभ किया है गुरुकुल खोला यहाँ हरियाणा मरोत्तर के पास आचार्य जी शायद होंगे यहाँ वो खड़े होकर दिखाएंगे थोड़ा सा आचार्य सत्यव्रत जी पहले गुरुकुल में पढ़ाते रहे जर्जर गुरुकुल है और अनेक गुरुकुलों में पढ़ाते रहे और अब वो गुरुकुल जो है आठ के लगभग ब्रह्मचारी और आचार्य जी वहां एक एवाचरी के रूप में जैसे हमारी प्रक्रिया चलती है ध्यान देना ये कोई हम किसी को आसान नहीं कर रहे ईश्वर की चीज ईश्वर के काम में लगा रहे हैं हम अपना खर्चा स्वयं करेंगे और कोचारी मन विकास के किया गाड़ी भी करते कर्मचारियों का और शेष ऊपर का खर्चा हम कर्मचारियों का भी करते हैं अपना भी करते हैं और ब्रह्मचारियों का भी करते हैं इसी बातों को लगे हुए और उन ब्रह्मचारियों को व्याकरण निरुक्त आदि पढ़ा करके आगे का स्तर उनका हम आर्यवन विकास में ले आए व्याकरण के पढ़े लिखो और उनको फिर यहां दर्शनाचार्य बनाए योग सिखाए व्याकरण आदि भाषा का विज्ञान कराता है और आत्मा परमात्मा का ज्ञान ठीक है दर्शनों को पढ़ता है गहराई से आत्मा परमात्मा को जानता है योगाभ्यास करता है वैराग्य को प्राप्त करता है वो व्यक्ति भौतिकवाद के सामने खड़ा होकर युद्ध कर सकता है अन्य कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता फिसल के भाग जाकर कहते की तरफ इसलिए वो योजना हमारी लंबी है एक गुरुकुल वहां खोला ऐसे ऐसे सैकड़ों गुरुकुल खोले छोटे छोटे और उन को तैयार कर दिए दर्शनाचार्य यहां जाके बनाए और स्नातक निकाले अब कितने निकले अनेक तो इनमें वही है जो आदि ब्रह्मचारी रहेंगे और बहुत अच्छी योग्यता है पढ़ाने की बोलने की आप ज्ञानेश्वर विवेक जी को देख सकते ऐसी ऐसी योग्यता वाले और इनमें वो भावनाएं वो भरी गई है एकाध सारे एक जैसे नहीं होते अपने पतले की भावना से एक पैसा भी नहीं लेना किसी से कितना ही पढ़ाओ कितना ही लिखाओ कितना ही प्रचार करो योग शिक्षण घरों में जाओ पर बदले की भावना से हम कुछ कर रहे हैं हमको इतना दे दो ये हम कभी भी नहीं करेंगे निष्काम भावना ये जो स्थिति इस समय आपके सामने है यहां से साहित्य का प्रकाशन कैसे कैसे होता आप देख सकते उतना ही नहीं अपने विवेक भूषण जी ज्ञानेश्वर स्वती यहां दिन रात लगे हुए होते और मेरा काम क्या है एक ब्रह्मचारी लगभग मेरे साथ रहता है ये आंध्र प्रदेश ये उड़ीसा और बंबई और कच्छ गांधी धाम और राजस्थान हरियाणा पंजाब या ये जम्मू आप उत्तर प्रदेश हमारी योजनाएं में सारी की सारी ऐसी ऐसी ठोस चलती है जिसमें प्रशिक्षण देते हैं ये हमारा कार्य यहां से हो रहा है आपने देखा भी होगा अब इस कार्य को इसी रूप में हम चलाते जाए ऐसे ऐसे विद्वान बहुत से तैयार होते जाए और ऐसे ऐसे गुरुकुल खुलते जाए तो हम वेद की रक्षा कर सकते हैं वैदिक धर्म की रक्षा कर सकते हैं वेद कृष्ण की विद्या को हम सुरक्षित रख के आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे मध्य में अच्छे सन्यासी नहीं मिल रहे अच्छे विद्वान नहीं मिल रहे उनको हम उत्पन्न कर सकते हैं इस प्रक्रिया में आपको इसके लिए कुछ मोड़ देने पड़ेंगे अनेक मोड़ देने पड़ेंगे आप यद्यपि अपने देश में आर्य समाज के विविध कार्य चलते हैं कहीं कि ये भी कॉलेज के विभागों में देखेंगे करोड़ों रुपये रुपए की संपत्ति चली हुई है वो आधुनिक ढंग से पढ़ाते लिखाते हैं उनका अपना है फिर आर्य प्रतिनिधि सभाएं काम करती है फिर गुरुकुल भी काम करते अपने ढंग से यद्यपि कहीं कहीं अपने ढंग से कुछ काम होते हैं ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा होते हैं हो रहा पर ये इस ढंग का काम ऐसे ठोस काम विशेष विद्वान बनाने का काम योगाभ्यासी बनाने का काम ब्रह्म प्राप्ति जिसका लक्ष्य ये काम प्राय नहीं हो रहा केवल कहीं कहीं पाठन पाठन चलता है तो केवल वो केवल अपनी जीविका के चलाने तक सीमित होता है नौकरी करने तक सीमित होता है प्रमाण पत्र लेने तक सीमित होता है परीक्षाओं की भी स्थिति बिगड़ी हुई है और किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हमें वो परीक्षाओं का माध्यम परीक्षाओं की परंपरा आप जैसी छल कपट की चलती है वो उन संस्थाओं में प्रवेश कर गई है आप समझ गए होंगे बुरी तरह कर गई है ऊपर से ऊपर वाला व्यक्ति सलाह देता है कि करो नहीं तो तुम फैल हो जाओगे नकल करो ये स्थिति बिगड़ती बिगड़ती यहां पहुंच गई है और ये छुप करके नहीं रह सकती पकड़े जाते हैं सरकार सहायता देती है वहां परीक्षा मान्यता प्राप्त है और सरकार इन बातों को पकड़ती है और सरकार पकड़ के जानती है कि <clears throat> इस संस्था में इतने नकल करते हैं और वहीं की गुरुकुल के ब्रह्मचारी हो तो कैसा लगेगा आपको नतमस्तक हो जाएंगे माथा मारेंगे आप नीचे गुरुकुल का ब्रह्मचारी की नकल करता पकड़ा जाता नकल करता और करवाते हैं ऊपर के अधिकारी तो ये गुरुकुल है क्या ये जो स्थिति भयंकर आई तो इसको मोड़ नहीं दिया जाए तो क्या होगा नहीं होगा तो सत्यानाश हम रोकेंगे उसको इस सत्यानाश को ही तो रोकने की योजना बना रहे ना ये ठीक हाँ ये ठीक है आपकी बात भी ठीक है हाँ आपकी गलत नहीं है मैंने तो बंदी बनाने से कही है वो बात है आपने वहां से बोला कि भाई ये तो नाश होगा मैंने का इसको बचाएंगे हम तो ये बात वास्तविक है और ये दृश्य ये रचना ये क्रिया प्रक्रिया आपको प्राचीन काल में तो मिलेगी जब ऋषि होते थे आश्रम होते थे उपनिषदों की ये पठन पाठन होते थे उस समय ऐसी स्थिति ऐसी गतिविधि ब्रह्म ही लक्ष्य है प्राप्ति है और उसी के लिए लगे रहना मध्यकाल में नहीं दिखाई देगी आप ये कहते हैं ये बहुत अच्छा काम हो रहा है मैं ये कहता हूं वही बोलूंगा भाषा ये सारे आर्य समाज में नहीं सारे भूगोल में ऐसा कार्य कहीं नहीं हो रहा है अब जो मेरी भाषा का उल्टा अर्थ करेंगे डींग मारने वाला सही नहीं हो रहा झूठ बोल रहा है ये करेंगे ये करने मैंने कहा था भाषा हम वही बोलेंगे और जो अनुभव करते हैं वो लोग ये जो मानव निर्माण का वैदिक रीति से वैदिक विद्वान बनाने का ईश्वरीय लक्ष्य है और निष्काम भावना से आहुति देने का ये कामयाबी विकास हो रहा और <clears throat> ये काम यदि होता ही सर का काम है यदि ऐसे विद्वान निकलते हैं तो हम इस भोगवाद के विद्वानों से टक्कर ले सकते हैं याद रख लेना नहीं तो टक्कर नहीं ली जा सकती ध्यान से सुन लो ये जब भी गांव में भजन उपदेश होता है बहुत अच्छी बात है अच्छी हवन करवाते बहुत अच्छी बात है विविध अनाथालय में दान देते ये अच्छे काम है परंतु जहां चोटी के विद्वान वैज्ञानिक बड़े बड़े संप्रदाय के विद्वान होंगे वहां ये चोटी के विद्वान इनसे बात कर पाएंगे दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता ऊपर से विधान चलता है भौतिक वैज्ञानिक और बड़े बड़े विद्वान जो संविधान बनाते हैं सारे लोग उसी के अनुरूप चलते हैं यदि उनका दिमाग बदल दिया जाए तो संसार बदलेगा और नीचे से आप संसार को विशेष नहीं बदल सकते सहयोग दे सकते हैं आप नीचे से बंदूक चलाने वाला आगे के फिर सहयोग देते पंद्रह व्यक्ति लगभग आप तो सेना में रहे हैं देवगढ़ सुनाते थे एक गोली जब लगेगी मोर्चे पर जब पंद्रह के लगभग व्यक्ति पीछे हो गए तो सोलहवा व्यक्ति गोली चलाता है पंद्रह पीछे हो गोली चलाने वाले जो है ना ये कुछ को ठीक ये तो इसी ढंग से तैयार होंगे और पंद्रह बीस वर्ष लग जाते हैं एक ब्रह्मचारी को तैयार करने आज माता तैयार हो जाओ करो तैयार पिता भी तैयार हो जाए एक बेटा एक बेटी तो समर्पित होगा विद्वान बना दी संसार को दे देना देखिए हम ईश्वर का मान के दे रहे हैं कोई आसान नहीं तो हमें जैसे हम किसी पे आसान बिल्कुल नहीं कर रहे हम तो ये कहते परमात्मा ने हमको दिया है हमें हमारा कुछ है नहीं तो हम उसी को अगर सरका देते अपनी छाप लगा दे तो क्या होगा बताओ क्या होगा आगे क्यों बैठ गई उत्तर क्यों नहीं दे अपनी छाप लगाने तो क्या होगा अपनी छाप लगाने से माँ भोगना पड़ेगा अपनी छाप लगाने से महा दुख भोगना पड़ेगा इसलिए हम छाप नहीं लगाते इसी भी बात है झूठी नहीं है अपनी छाप लगा दो मेरा और मैं इसका स्वामी बस फिर मारा गया आप दान दे रहे ना देखो सुनाई दे रहा है तो मेरा मन लगा देना हैं पीछे घबराने की बात नहीं ये ऊंची स्थिति को लेकर मैं बोल रहा हूं लौकिक दृष्टि से सांसारिक दृष्टि से यश जाना यश कमाना अच्छे कामों में दान दो गुरुकुल से लाओ उस व्यक्ति का यश गाओ ये लौकिक स्थिति पर बिल्कुल ठीक है डरना नहीं स्वर्ग कामो ये गेत है जो स्वर्ग जाता हो याद करे दान करे गुरुकुल चलाए पर मैं वहां बोल रहा हूं वो भगवान के दर्शन करना चाहता है बोलो भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है तो फिर आपकी छाप नहीं लगाना स्वर्ग पाना हो तो थोड़ी ही लगा देना कि भगवान के दिए मैं दे रहा हूं बस अब तो समझ में आ गया दोनों बातें समझ लीजिए कभी उल्टा अर्थ कर दो दोनों आगे ना समझ तो ये जो बात है आपको इस रूप में स्वीकार करनी पड़ेगी और ध्यान देना कुछ बातें मैं बताता हूं आपको अपने ईष्ट में इस संस्था में अनेक व्यक्ति हमारे सहायक होने चाहिए धनजी यहां बहुत प्रयास करते हैं दूसरे कार्यकर्ता आते हैं पर अधिक वो प्रयोग ध्यान के कारोबार को जैसे वो एक है वो एक वो हो तो पांच दस व्यक्ति हों वो हमारे विद्यालय में भी विभाग काम करें और दूसरे विभाग में भी और उसी के साथ साथ गांव और नगरों में यहां का परिचय वहां जाकर प्रचार कुछ करना लोगों को सारे सुझाव देना सारी योजना बताना प्रचार का रूप वो करते रहे यहां काम करें इन कार्यकर्ताओं की कमी के कारण हम विशेष काम नहीं कर सकते उसमें बाधा खड़ी होगी हम इस काम को करेंगे विद्वान बनाएंगे योगी बनाएंगे सदाचार उनका बनाएंगे उस समय भी गांव में जाएंगे प्रचार के लिए जाते रहेंगे बाहर निकल गए धन मांगने के लिए जैसे आजकल का हुआ है तो यहां कुछ नहीं बनेगा फिर समझ में बात हाँ। जो जिज्ञासु ब्रह्मचारी योगी ब्रह्मचारी आएंगे वो यहां रहेंगे नहीं या रहेंगे बताओ उनको तो रोज वो चाहिए पढ़ाने वाला आगे आगे प्रगतिशील रहेंगे एक दिन पाठ रुकता तो उनको चोट लगती है और हम चले जाए प्रचार के लिए और धन मांगने के लिए तो यहां का कार्यक्रम विशेष नहीं होगा इसलिए हमने प्रयास किया है प्रचार कार्य हम उसी स्थिति में करेंगे जब यहां का कार्य पूरा रहेगा उतना ही समय बांट देंगे नहीं तो बाढ़ समय नहीं देंगे यदि आप में से अनेक लोग जो बाणप्रस्थ के रूप में हैं पचास साठ वर्ष की स्थिति अपना घर का काम संभल गया है वो अपना ही बल्कि अपनी ओर से ही भोजन खाते हैं फिर याद रखना हम उनको यहां रहते हुए इतना योग्य बना देंगे वो अच्छे वानप्रस्थ बने और हो सकता है इतना योग्य बना देंगे वो सन्यास की योग्यता को प्राप्त करें अब देखना हो तो अपने साधक जी को देखो खड़े होंगे साधक जी आगे साधक जी कहा है ये अपने साधक जी ये सैनिक थे पहले ये सेवानिवृत्त होकर के और यहां पर पढ़ने के लिए आए और हमने कहा कि कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ रहिए इनको कार्यक्रम बताते रहे पढ़ाते रहे अब ये संस्कृत बोलते हैं दिन भर और पांच दर्शन पढ़ चुके हैं लगभग इनकी उन दर्शनों की एक आध कमजोरी होगी पढ़ा सकते हैं और इनको बानपत क्या वो ले लिया बानपत हो गए अब ये संन्यास करने की योग्यता में का संपादन करने चाहते हैं और सन्यासी बन सकते हैं परिश्रम करते रहते ऐसे आपको बनाएंगे न केवल कार्य करवाएंगे आपसे क्या समझिए आप यहां रहने वालों को हमें विद्वान बनाएंगे योगाभ्यासी बनाएंगे धार्मिक बनाएंगे कल्याण के लिए अग्रसर करेंगे और वो योग्य सहयोग देंगे हम इस बात को नहीं मानते हम ऐसा नहीं सोचते कार्य तो उसे लेते रहो और उसके अंदर ना विद्या हो और न उसके ऊपर कोई योगाभ्यास करे न संध्या के लिए समय मिले न बेचारे का स्वास्थ्य संभाला जाए न उसकी सूझबूझ अपना काम ले दो और फेंक दो इसे पशु ये हम नहीं सोचते आप सोचो और ये भी सोचो कि हम संस्था में सहयोगी देंगे और हम अपने आप को बनाएंगे तैयार करेंगे ये एक भाग है बानपस्त वाले लोग दूसरी बात माताएं पुरुष सोच रहे हैं क्या मैंने विभाग बनाया था आज आप तैयार देश जाति के लिए अपनी आहुति देना ये एक काम है व्यक्ति की अपने तनमन दूसरी बात गृहस्थियों के लिए धर्म कर्तव्य है देश जाति की रक्षा के लिए अपने वेदों की रक्षा के लिए कम से कम एक पुत्र सा एक पुत्री तो होनी चाहिए बोलो कम से कम मुझे तो सबका भेद पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है पर अपने गृहस्थ में विशेष काम करते हैं और कुछ देश का भी करते हैं भाई कम से कम एक घर में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जो घर के कामों को तो छोड़ दे और केवल देश के लिए लगेगा ऐसे हम हजारों के लिए कहेंगे तो उसमें से पचास निकलेंगे है? या पच्चीस निकलेंगे या दस निकलेंगे हजारों लोग जब परिश्रम करते हैं ना तब ये पांच दस निकलते हैं ये मत सोचना हजार के हजार एकदम तैयार हो जाते ये नहीं सोचना तो आपकी भावना है कुछ अपने बेटा बेटी को तैयार कर लिए बोलो वो तो आप खड़ा करो हां ठीक है अब दूसरी बात और सुनो आपके बेटे बड़े हो गए वो मानते नहीं आपकी बात को नहीं मानते आप इसकी प्रक्रिया यह है कि सुयोग्य ब्रह्मचारी है जैसे ये माताएं ये पुरुष यहां जो सहायता देते हैं उनमें अपनी अपनी श्रद्धा है कितनी माताएं ऐसी होती हैं जो अपने पुत्र को देती है लगभग उनका स्वभाव ये देखा जाता है रोगी होते हुए आएंगे यहां अपने पुत्र के लिए जैसे जाती है लालाई तो जैसे माताएं बहुत कम है वैसे तो आप सब ये कुछ न कुछ तो। पिताओं में भी ऐसे होते तो उनकी भावना ये होती है कि हमारे बेटे ही हैं सारे अपने ही मां के पेट से पैदा हुआ वो बेटा नहीं है ऋषि दांत की मान्यता के अनुसार गुणक्रम से जो अपना स्वभाव से जो पुत्र है वही पुत्र है जो किसी मां के पेट से पैदा हुआ न्याय की बात यही है जन्म से कोई पुत्र नहीं होता योग्यता के आधार पर पुत्र पुत्री होते हैं और यदि पुत्र पुत्र नहीं मानते तो बताओ कि बेटा बेटी से कहो ये धन संपत्ति गुरुकुल के लिए लगेगा यदि तू वैदिक मार्ग पर नहीं चलता सारा धन विरारी समाज के लिए गुरुकुल के लिए लगेगा तुझे एक पैसा देने वाला मन नहीं ऐसा कर सकोगे आप आपको करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा न्याय की बात ये जो पुत्र पुत्रियां नहीं मानते संज्ञा नहीं करते आर्य समाज में नहीं जाते वो हमारे हैं ही नहीं और हम कह देंगे सीधे बुला करके कहेंगे ये यदि हमारे अनुसार करो तो धन संपत्ति नाम होगी नहीं तो एक पैसा नहीं मिलेगा सीधी बात करो हम ईश्वर से डरते हैं ईश्वर का न्याय है बेटा बेटी से कभी नहीं डरते अगली बात समझ ये भी बनाओ आगे बढ़ो थोड़े से इतनी मत नहीं है किसी की उनके लिए एक प्रक्रिया चलेगी कि वो मिलकर के पांच दस बीस बीस रुपए चालीस चालीस रुपए दे दे करके दस दिन मिल गए और उन्होंने कहा कि एक ब्रह्मचारी को तैयार कर लिया उनकी सहायता से बीस तीस ब्रह्मचारी तैयार किए जाएंगे उनमें से दो चार तो कम से कम बन जाएंगे हम जो पढ़े हैं ना जैसे मैं पढ़ा हूं या ये ब्रह्मचारी प्राय उनमें लोगों ने कुछ सहायता की आज भी ये जो कुछ सहायता आप करते हैं इसी आधार पर हम इन ब्रह्मचारियों को पढ़ाते हैं मान के चलिए आप सहायता नहीं करते तन से सहायता नहीं करते शरीर से नहीं करते तो हम इतना काम नहीं कर सकते ये स्पष्ट बात है जितनी मात्रा में आप सहयोग देते जाएंगे उतनी मात्रा में आप कल्पना नहीं कर सकते महेश योगी का खजाना देखिए रजनीश का देखिए अरबों खरबों पर पता नहीं कहां पहुंचा हुआ होगा हमारे पास में तो कितने रुपए होंगे थोड़े बहुत मान लो आधा करोड़ का हो या बीस लाख हो और तुलना कीजिए इतनी संपत्ति है कल्पना नहीं कर सकते आप और उनका या, यातायात विमान से होता है सारी कथा मैं नहीं सुना सकता कितनी संपत्ति और कितने साधन है और कार्यकर्ता उनके हजारों हो सकते हमारे पास में कहां है कार्यकर्ता कम है इतने कम है कि वो उंगली पर भी गिरना मुश्किल हो जाएगा उंगलियां भी सारी भरी जाएंगी नहीं भरी जाएंगी अपने यहां के व्यक्ति तो अपने आप को तो वहां बैठा देते वैसे कोई छू न जाए ये सेवा में दूर खड़े रहेंगे तमाशा देख रहे घर में तो एक कोल्ड के बैल की तरह चलता रहा पचास वर्ष घर में और यहां आते कहने का जी काम करता तो अपने घर पर रहता <laughs> खाऊंगा तो यहां रहूंगा और काम करता तो अपने घर पर ही ना रहता अच्छा तू खाने के लिए आया है ये दिमाग बना हुआ इस व्यक्ति का जो भी आए मान प्रस्ती बन गए हाँ कुछ काम करो सन्यासी बन गए पढ़ो पढ़ाओ कुछ काम देखिए जी मैं यदि काम करता तो सन्यासी क्यों बनता यदि काम करता तो बानपत क्यों बनता और वहां कोल्लू के बैल की तरह जोड़ा रहा है और कमाया वहां को दे के आ गया वो बूढ़ा बूढ़िया बाहर निकल गया अब कहते हैं सन्यासी बनेंगे <laughs> वो स्वामी ओमन जी सुना करते थे एक बूढ़ा व्यक्ति जीर्ण सीर्ण मेरे सामने आके खड़ा हो बिल्कुल हिलना जुलना मुश्किल और वो कहने लगा महाराज जी मैं प्रार्थना करता हूं करो मैं गुरुकुल को अपने जीवन को दान रूप में समर्पित करना चाहिए उनका तेरे पास जीवन है का तू दान देने की बात जीवन है तो दान दोगे ना जीवन ही नहीं तुम तो दान तू दावन के दांत उसके निकल गए बाकी तेरे पैर रखता है और वो जब काम कहते कहता जी बांध पर तो इसलिए बना था कि मैं साधना करूं खाने मांगे पीने मांगे लड़ाई करता है बराबर तो मैं आपको सुना रहा था इस रूप में सहयोग देना और ध्यान से सुनो आप यहां सीख के जाते हो अपने बसंत भाई जी हैं और अपने पुराने साधकों में से इनकी योग्यता अच्छी है उनका कर्तव्य बनता है अपने गांव में परिवारों में नगरों में वो इसी प्रकार की योग्यता बना ले जैसे हम शिक्षण शिविर यहां चलाते हैं वैसे ही योगाभ्यास सिखाने के प्रशिक्षण वो गांव और नगरों में संचालित करें आपने देखा होगा गांव और नगरों में आसनों का प्रशिक्षण देते हैं पहले लोग आसनों के माध्यम से फिर धीरे धीरे अपने अपनी मान्यताओं का और अपना धर्म संप्रदाय के नाम से वो सिखाते हैं आप कोई भी बहुत अच्छे आसन करने आते हैं स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा जानते हैं तो आप सैकड़ों हजारों लोगों को अपने पास खेच सकते हैं और उनको खेच करके फिर योगाभास की जो विचारधारा है उसको सिखा सकते माताएं तैयारी करेंगी बार बार पढ़ने वाली पढ़ाने की बोलने की वो माताओं में जाकर के जैसे दूसरी माताएं बड़ा उपदेश देती हैं और माताओं को कितना प्रचार करके अपनी ओर प्रभावित करती है अब अपने विषयों में माताएं उस रूप में वहां तैयार हों और ये तैयार होने के पश्चात गांवों और नगरों में जो माताओं को बहकाया जा रहा है और बड़ा भ्रम में डाला जाता है उसको रोका जा सकता है ब्रह्मा कुमारी की संस्था देख लीजिए बाबू पर बचकर ध्यान देना क्या है ब्रह्मा कुमारी वेद के विरुद्ध दर्शन शास्त्र के विरुद्ध गीता महाभारत के विरुद्ध मनुस्मृति के विरुद्ध ऋषिधाम के विरुद्ध सनातन धर्म के विरुद्ध जितना करते चले जाइए सबकी जड़ उखाड़ के फेंक रहा है ब्रह्मा कुमारी में किसी को नहीं छोड़ रहे और प्रधान क्या लड़कियां हैं वो ऐसी लड़कियां हैं जवान लड़की और वहां तैयार की जाती है पढ़ाई जाती है प्रशिक्षण दिया जाता है और वहां कर्नाटक तक उनका बोलबाला जी का तो कर्नाटक में पहुंच जाइए हरियाणा में पहुंच जाइए गुजरात में पहुंच जाइए बड़ौदा में पहुंच जाइए दिल्ली में पहुंच जाइए आप किसी कोने बजाइए इनमें भरा हुआ उनका और प्रचार करिए माताओं में माताएं घर में जा जाके प्रचार दे सकती है कोई उनको संकोच नहीं की माताओं माताओं का जाना पूरा नहीं माना जाता वो घरों में जा जाके ब्रह्मा कुमारी सारी माताओं को ब्रह्मा कुमारी मत में फंसाती है और ये माता हमारी ऐसा कुछ नहीं करती है या नहीं ऐसा ही प्राय कुछ नहीं कर एक बहन जी आई थी बम्बई की उनके वो हैं क्या नाम वो यहां आई एक बात ये भी सारी जैसी उसने क्या किया यहां से सीख की गई और वहां परिवार के बच्चे सत्रह अठारह जितने होते हैं ना प्राय बताया मैंने जाके देखा उनको सारी चीजें सिखाना इसी पद्धति से सिखाना तो उसने क्रिया रूप दे दिया तो सभी परिवारों में दिया जा सकता बंबई में सभी में किया जा सकता है तब तो हम इससे आगे बढ़ेंगे नहीं तो हमारी कौन सुनेगा हम तो यहीं कोने पर बैठे हैं और थोड़े से लोग हैं अब हजारों की संख्या में घरों में माताएं पुरुष हो तो, तो मुकाबला हो सकता है अब एक और तो करोड़ों लगे हुए और एक और तीस तीस भी नहीं तो कैसी तो कैसी तुलना कर दिया दूसरे मतों के साथ तुलना करके दे दीजिए आप देवबंद नाम का विद्यालय है ये उत्तर प्रदेश में याद रखना एक विद्वान वहां गए वहां की गतिविधियां उसने देखी हमने बातचीत की उसमें बताया कि देवबंद विद्यालय इस्लाम मत के मानने वालों का है और उसमें तीस हजार जवान पढ़ते हैं तैयार कि चोटी के विद्वान बनाए जा रहे हैं एक विद्यालय की बात है तीस हजार उनका सारा भोजन वस्त्रादि का व्यय सारे के सारे खर्च सारे के सारे मुसलमान लोग देते हैं अब जब एक में तीस हजार है तो सारे विद्यालय में कितने हजार होंगे कल्पना कीजिए देश के साथ प्रचार के निकल रहे हैं और आपने यहां एक दीवान का आना मुश्किल आ जाए तो लठले के पीछे पड़ लेते कि ये क्यों ब्रह्मचारी बना दिया तो ला कीजिए ईश्वर ईसाइयों की ओर देखिए जीवन खपा देते ही वहां जंगलों में रहते हैं और उनके जो होते हैं ना बिछड़े हुए लोग बिल्कुल भूले भटके बेचारे उनके घरों में रहते हैं उनकी भाषा सीखते हैं उनको रोटी कपड़ा मकान देते हैं और अंत में कहते हैं तुम यदि ठीक ठाक रहोगे तो नौकरी लगवा देंगे फिर ईसाई मत को मानना पड़ेगा जटेदाई बनाते हैं उड़ीसा हम जाते हैं स्वामी धर्मानंद उन्होंने बड़ा प्रेषण किया बाहर के क्षेत्र में और स्वामी धर्मानंद जी ने बीस हजार हिंदुओं को जो ईसाई बन चुके थे लौट करके हिंदुओं में लौटाले बड़े कर्मठ विद्वान भी हैं और उनको हमने ही प्रेरणा दी थी सन्यासी बनने की सारी सारी बिल्कुल जितने छोटे से थे तब पढ़ते थे अब वो पचास वर्ष की अवस्था होगी उनकी तो वहां पर गरीबों को उड़ीसा जैसे देशों में ये ईसाई लोग धन संपत्ति दे के भोजन कपड़ा मकान दे करके फिर उसको नौकरियां देते हैं और हिंदुओं को आर्यों को सबके सबको ईसाई बनाते जाते हैं और नागालैंड देने को इनको अधिकार में कर लिया अपने में यही मत मतांतर इसी सहायता के आधार पर इनकी बाल की सेवा इतनी मजबूत है इतनी अधिक है वो हमारी और मुंह ही नहीं करते वो व्यक्ति हमारे लोगों में भयंकर दोष क्या है घृणा उपेक्षा ये फलानी जाति का ये फलानी जाति का ये हरिजन है ये फलाना है उनको दस करोड़ के लगभग हरिजनों को शत्रु बना के रख दिया वो कहेंगे हमारा अलग भारत दो तो देना पड़ेगा क्या बात करते हैं इनका दिमाग इस रूप में खराब किया छुआछूत छूत जातिवाद ने विनाश किया इस जातिवाद को कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए यदि जातिवाद हमारे मन में तो हम विश्व वैदिक धर्म के बिल्कुल कट्टर विरोधी है ये आपत्ति है हमारे सामने ये जातिवाद के सारे झगड़े जातिवाद ने इस समाज को इस आर्यावर्त देश को टुकड़े टुकड़े बना के रख दिया एक जाति मरती पिटती रहती है दूसरी जाति देखती रहती है इन जाति नाम जाति के नाम से इनको मंदिरों में नहीं चलाया जाएगा इनको पूजा पाठ नहीं बनेगा उनको आग लगती हमारे लिए पूजा पाठ का स्थान नहीं है आज उनको पूजा के पूरे स्थान दे दो आप और ईसाइयों के लिए थोड़ा सा धन दे दो हमारे बन जाएंगे पर ये देंगे नहीं ये इतने स्वार्थी लोग इतना दिमाग खराब है इन लोगों का मर जाएंगे पिट जाएंगे जैसे कि पीछे गए विदेशियों से पिटे लुटे और भारत को पराधीन किया था ऐसी हालत हो सकती है पर ये देंगे इतना दिमाग खराब है इन लोगों का किसी व्यक्ति को वही हाथ पैर खाना पीना और वही टट्टी खराब मात भरा हमारे शरीर में वही चुर के पुत्र हैं हम वो कहां से आके के तब बड़े दुष्ट लोग जिनको छुआ छूत कहते हो आप कहां से आ गए वो ये भयंकर दोष घरों में भी है जातिवाद के इनके फिर प्रांतीयवाद आ जाता है ये सारे के सारे दोष हमारे घरों में रहेंगे हमारे पास रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसराइल को एक बहिष्कार कर दो जितनी देर लगेगी ध्यान देना कितनी लड़कियां हिंदुओं की कितनी लड़कियां हिंदुओं की मुसलमानों के चक्कर में आकर के उर्व विवाह कर लेती हैं कारण सोचा तो उस बेटी को इस मां ने आर्यवर्त धर्मी वैदिक धर्म का कोई पाठ नहीं पढ़ा मुसलमान की बेटी को पाठ पढ़ाया जाता वो हिंदू नहीं बनेगी मर जाएगी एक आदि को छोड़ो ऐसा पाठ पढ़ाया जाता ये बूढ़िया बाढ़िया सारी बैठी रहती है कोई वैदिक धर्म का पाठ नहीं पढ़ाती कोई ऐसा भूति नहीं पिलाती बेटी मर जाना वैदिक धर्म को नहीं छोड़ना कोई पाठ नहीं पढ़ाया खुली छोड़ी रखी सोलह सत्रह वर्ष की अवस्था में वो जग निर्वाचन किया दूसरे विरोधी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया रोती है फिर ये रोती है कि मेरी बेटी चली गई एक घटना नहीं सैकड़ों घटना है या नहीं है आपको याद है जो कि क्यों है ये घटना मैं सुना रहा इनको पाठ ही नहीं पढ़ाया जाता भजन धर्म का इनको देशभक्ति का पाठ ही नहीं पढ़ाया जाता अक्षर सिखा दिए नाच गाने सिखा दिए नाचे बिना कोई परिवार अच्छा नहीं नाचते रहो गाते रहो नाचते रहो नाचते रहो गाते रहो हो गया परिवार ऊंचा इन लोगों के छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी पुराने बिना अपने मत की बिना कुरान की बात कभी सुनने नहीं जाएंगे न सुन, सुनने दिया जाएगा और इसका बेटा खुला भी करता है चाहे ईसाई बन जाए चाहे मुसलमान बन जाए चाहे वो बन जाए चाहे ये बन जाए कुछ भी बन जाए कुछ का कुछ बन जाए रीच बन जाए ये रोकने के लिए तैयार नहीं है कुछ समझ में आती है हाँ जी हाँ तो ये जो हमारी स्थिति है ये विरोधी जो तत्व है और सुन लो आपस में फूट डालना गद्दियों की लड़ाई धन की लड़ाई ये लड़ाइयां जो लड़ी जाती है हमारा विघटन होता आपस में इसको रोकना पड़ेगा ध्यान दो हम यदि सावधान नहीं है ये सदा तो याद रखिए हमारे संगठन को चाहे जो तोड़ सकता है हम किसी की हानि नहीं पहुंचाएंगे याद रखना पर बर्थडे इतने चार प्रकार के लोग लिखे सत्पुरुष एक और मध्य पुरुष दो और राक्षस जो दूसरे को लूट के खा जाते हैं और जिनका नाम भी नहीं दिया वो चौथे दूसरे के घर में आग लगा देंगे ना अपने काम की न ऐसे लोग हमारे मध्य में आते हैं रहते हैं हम देखते रहते हैं यदि आप सावधान नहीं है हम सावधान नहीं है तो हमारे घर में आग लगा के चले जाएंगे ना हमारे काम का और न उनके काम का इसे बचना पड़ेगा आपको उस ढंग से सुना रहा है किस ढंग से जो विरोधी तत्व के प्रचार करते हैं विरुद्ध में उसको बड़ी सावधानी से लेना चाहिए और सावधानी को साथ ये देखो कि ये विरोधी तत्व कहां से उभरते हैं इनसे सावधान रहा जाए मैं कल्पना करता हूं या ऐसी चीजें निकलती हैं आपके सामने घरों में जाके किसी ने कहा भाइयों सुनो स्वामी सत्यपति विवेक भूषण नाम का व्यक्ति एक ज्ञानी स्वीकृत है उसको खा गए सब कुछ <laughs> और दिन रात खाते रहते पड़े रहते हैं सूर की तरह और करते कराते कुछ नहीं तुम कहां बैठे गाजी समाज की संपत्ति तो खराब कर दी उन्होंने अच्छा <laughs> वहीं वहीं से गर्म दिमाग हो गया अब भला आप सोचो भाई हमारे तक बात पहुंचाओ पूछो कुछ यहां तक तो आने दो नहीं समझे आप ऐसे भयंकर प्रचार करने वाले लोग बिना नाम के पत्र लिखते हैं पहले आता एक पत्र बिना नाम का नाम पता कुछ नहीं है पूरा लंबा चौड़ा सारे समाजों में उत्तर प्रदेश में हरियाणा में गुजरात में विद्वानों के पास भेज दिया कि ये अनर्थ है महाअनर्थ है अब ये स्थिति आई हां तो ये जो लोग बिगाड़ने वाले हैं इनको हम सावधान नहीं रहे नहीं रहे और याद रखना इसमें एक भूमिका क्या होती है आपने पत्र पढ़ लिया वहीं और वहीं से समझ लिया ये बीस की बीस बात ठीक है वहीं से बिगड़ गए आप तो ध्यान रखना बिगड़ना नहीं क्या समझे आप याद रखने आप उस इलाकल को हमारे वो तो लंबी खोज है राजनीति वाले करते हैं वो हम उसी के लिए लग जाए पटना लिखना खत्म हो गया हम तो एक हम तो हम तो इस बात को भी मानते हैं कि लिखने तो जो कुछ लिख रहा है एक अभी आया इतना लंबा चौड़ा और उसमें जितने भी एक पापी महापापी में दोष होते हैं वो लिखे और नाम पता नहीं दे रहा अपना और समाजों में पहुंच गया है और भर में जहां भी इसकी पहुंच है वहां पहुंचा दिया उसने अब इतना ध्यान देना वो पत्र पढ़ करके आप मान मत लेना बातों को इतना तो कर लोगे बोलो मान मत लेना हमारे तक पहुंचा देना भाई ऐसा आया है हम वैसा यूज कर लेंगे हाँ नहीं जो बात आए वो अपने मानना नहीं कुछ भी जब तक हमारे सामने आमने बात नहीं हो जाए तब तक किसी की बात नहीं मानना ये आपकी सहायता है भाई इतनी सहायता कर दोगे ना हाँ नहीं कोई आसान नहीं है हमारे काम को कोई बिगाड़ेगा नहीं आप ही बिगाड़ देंगे यदि सुन लेंगे तो सुनते ही बिगड़ जाएंगे आप और की बात छोड़ो आप ही बिगाड़ डालेंगे उसको तो कहाँ है प्रचार से प्रचार करना शुरू कर देंगे और वहीं सहायता देना भी बंद कर देंगे और कहेंगे हाँ ये बात ठीक है ये पत्र में ठीक लिखा तो इसलिए ऐसी बातों को जब तक आमने सामने नहीं हो जाए किसी की बात नहीं माननी इसलिए विफल हो जाएंगे विरोधी और हम हाँ क्या करेंगे कि ये जो पत्र आ रहे हैं किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा समाज को फूट डालने की योजनाबद्ध है एक नहीं एक टोल का टोल दिख रहा है कोई ये और वो अपने राज्य समाज मानता होगा जहां तक इसके विचारों को हमने पढ़ा ना वैदिक धर्म कट्टर वैदिक धर्म होगा